चैतन्य ही इसका रूप है वो कौन है आत्मा इसमें समान अधिकरण हो गया देह से अन्य है और चैतन्य रूप है और वही आत्मा है इसे शक्ति हो गए आगे क्या गया अगर ये सृष्टि हटाएंगे तो आत्मा चिद्रूप देहातिरिक्त सुखरूप इसको साथ लेती इसका भी सिद्धि करते हैं शेषतया शेष अर्थात तो उपकार जो शेष होगा उसमें क्या करना रहेगा तत्काल प्रत्यय करेंगे तो शेषता भाव अपने तो भी होता है कम तो भी होता है तस्य भाव अगर सा कर देंगे तो हो जाएगा शेषता अर्थात शेष का जो तो धर्म है तभी शेष शेष अर्थात उपकार जिसका उपकारक तो होंगे कौन होंगे कहते पुत्र बीता पुत्र वित्त इत्यादि जिसका उपकारक तो होते हैं पुत्र इत्यादि प्रिय होते हैं जिसको पुत्र चाहिए उसके लिए पुत्र प्रिय होगा जिसको वित्त चाहिए धन चाहिए उसके लिए धन प्रिय होगा कहते हैं पुत्र पुत्र वित्त इत्यादि लोग में प्रिय माना जाता है तो ये प्रिय क्यों माना जाता है कहते हैं जिसका उपकार को बन करके ये प्रिय बनते हैं वो कौन है उसके लिए कहते हैं स सर्वप्रियतम दृष्टा अहम शुक्र आदि प्रिय होते हैं किंतु तो अहम प्रियतम प्रिय और प्रियतम प्रियतम सबसे ऊंचा और कहते हैं कि प्रियतम किसके लिए कोई प्रियतम होता है कहते हैं सर्वप्रियतम अर्थात ऐसा कोई नहीं है कि जिसके जिसके लिए वो प्रिय कर्म नहीं बनेगा वो कौन है कहते स्वयं अपना जो स्वरूप है तो सभी चाहेंगे कि हम तो बचे चाहे बाकी सब जाए तब तक वो दुनिया को बचाता रहेगा जब तक स्वयं बचा हुआ अगर जो स्वयं का स्थिति हिलने लगेगा फिर वो दुनिया को बचाएगा ना अपने को बचाएगा हाँ। अपने को बचाएगा क्यों कहते स्वयं सबसे प्रिय होता है हाँ तो कभी कभी होता है कि माँ अपना बच्चों को बचाने के लिए अपना जान छोड़ दिया वो वास्तविक वो बच्चे को ही मैं मान दिया अपना शरीर को तो शरीर की बात है अपना शरीर को मैं नहीं मानती है वो बच्चे का शरीर को मैं मानती है तो इसलिए बचाया तो मैं को ही बचाया छोड़ दिया दूसरों को छोड़ दिया तो ये सबसे अधिक प्रियतम होता है और हम जैसे कहते हैं कि जो बहुत कामी पुरुष होता है वो वित्त पुत्र को मैं मानता है प्रिय हो गया इसी प्रकार की थोड़ा कम काम ही होता शरीर को मैं मान इसलिए शरीर को बचाने के लिए प्रेम करता है और थोड़ा अंदर हटेगा कहीं मन को मैं मानेगा बुद्धि को मैं मानेगा तो अंतिम में ये सब में जो प्रिय रूपता दिखती है बुद्धि में प्रिय रूपता मन में इंद्रिय में शरीर में वित्त में पुत्र में ये किस लिए कहते हैं जिसके लिए ये सब प्रिय होते हैं तो वो कैसा है कहते हैं वो प्रियतम है तो उसके लिए ये सब उपकार होने से इसमें भी प्रयोग हो सका वास्तव में ये सब कोई प्रिय नहीं है तो जो प्रियतम है उसका ये उपकारक होकर के भी प्रिय बन जाते हैं जैसे कहते हैं कि हमको शिवरा निवृत्ति चाहिए उसके लिए हमको भोजन आवश्यक है भोजन आवश्यक है ना हमको दुकान से सामान मिलाना पड़ेगा हमको चाहिए क्या आखिर भोजन चाहिए तो भोजन में आवश्यकता होने से द्रव्य आंगन में भी आवश्यकता आ जाएगा इसको कहते हैं जिसमें हमको इच्छा होगा सुख का जो हमारा साधन होने जो सुख अगर हम चाहेंगे तो उसका जो साधन होगा वो भी हमारे लिए उपकार हो तो इसी प्रकार कहते हैं कि सबसे प्रियतम हो गया आत्मा उसका जो उपकारक होगा उसमें भी प्रियतम भी हो जाती है पुत्र पिता दयो भाव जिसका शेष शेष उपकार को होकर के प्रिय हो जाते हैं अगर वो सब उपकार नहीं करेंगे तो प्रिय नहीं होंगे प्रिय तो बुद्धि वही होता है जो उपकार करता है लौकिक बुद्धि से तो ये अभियान का बुद्धि में अर्थात जो उपकार है वही प्रिय होता है क्यों प्रिय होता है वास्तविक स्वयं तो प्रियतम ये प्रियतम को बनाने के लिए जो सहयोग करेगा उसमें भी ये प्रिय दोनों तो थोड़ा छीटा चला जाएगा वो सबको प्रिय मानने लगेगा ये बुद्धि कब तक रहेगी कहते हैं जब तक ये उपकारक बुद्धि रहेगा ये मेरा उपकारक है तब तक ये प्रिय तमत्व का छीटा बाहर में जाता रहेगा उपकार को जो होगा वो शरीर को उपकार करेगा मन को बुद्धि को उपकार कर सकता है उसके अंदर में जो वास्तव हमारा स्वरूप है उसका कोई उपकार कर पाएगा वास्तव हम जो है उसका कोई उपकार आने कोई कर ही नहीं पाएगा हम कुछ अन्य पदार्थ के साथ सट जाते हैं मनोबुद्धि बुद्धि शरीर के साथ सट जाते हैं और इसका कोई उपकार कर सकता है तो करने से जो उपकार कर देता है हम उसको प्रिय कर देते हैं क्यों भ्रांति में इन्हीं को ही प्रिय मानता है इसका जो उपकार होगा उनको भी प्रिय मानता है ये भ्रांति को हटाना पड़ेगा अर्थात ये सब मेरा प्रिय का साधन है ये भ्रांति से हम इसके सटे हुए मनोग्रीन द्वेष है ये इसको हटाना पड़ेगा तो इसलिए कहते हैं कि जिसका शेष होकर के ये सब प्रिय होते हैं वो हम है ये मनोबुद्धि शरीर इत्यादि ये हमारे लिए प्रिय होते हैं ये बुद्धि को धीरे धीरे हटाना पड़ेगा प्रियत्व को अन्यत्र हटा करके स्वरूप में लाना पड़ेगा और शरीर मनोबुद्धि में प्रियत्व करने से पुत्र विद्यादि में प्रियत्व हो जाता है आगे आगे और फैलता है वो सब नहीं करना है सो सर्वप्रियतम दृष्टा अहम तो मैं ही हूँ दृष्टा हूँ सबसे अधिक प्रिय हूँ आगे टीका में आत्मा सुखम पर प्रेमास्पद दुखवद चलिए आत्मा सुखम पर प्रेमास्पद दुखवद दृष्टान्त किसको दे दिए दुखवद तो उसमें पर प्रेमास्पद तो रहेगा हाँ। नहीं रहेगा तो ये साधर में दृष्टांत हुआ ना वैधर में दृष्टांत हुआ वैधर में दृष्टांत तो वैधर में दृष्टांत में साध्य भी नहीं रहेगा हेतु भी नहीं रहेगा जैसे कहते हैं यम पृथ्वी क्यों बंधात बंधवत्वा ये सामने जो है वो पृथ्वी है क्यों इसमें गंध है तो हमको एक दिखाना पड़ेगा और जो कि पृथ्वी नहीं है तो हम जल को दिखा देंगे देखिए ये पृथ्वी नहीं है इसलिए उसमें बंध भी नहीं लगेगा इसको कहते हैं विस्तार कर तो ये पृथ्वी नहीं है इसलिए इसमें बंध भी नहीं रहेगा साध्य जहाँ नहीं रहेगा वहाँ हेतु नहीं रहेगा कहते पर्वत महानसों में धूम है बंदी है और व्रत में बनी नहीं है बनी नहीं होने से धूम भी नहीं होगा साध्य नहीं है तो हेतु भी नहीं होगा इसी प्रकार यही सब कहते हैं व्यतिरिक इसी प्रकार यहाँ कहते हैं आत्मा सुखम पर प्रेमास्पद इसी पक्ष क्या हो गया आत्मा साध्य आत्मा सुख आत्मा में क्या रहेगा सुखत्व साध्य हो जाएगा सुखत्व तो आत्मा में रहेगा सुखत्व तदय हो गया और हेतु क्या है इसको कहा में दिखाएंगे तो कहीं और कहा मिलेगा वो तो केवल आत्मा में ही है अन्यत्र तो है नहीं इसलिए अन्यत्र क्या कहेंगे जहाँ सुखत्व नहीं है वहाँ परम प्रेमास्पद परम प्रेमास्पद तो नहीं है जो दुख है दुख में सुखत्व रहेगा नहीं रहेगा तो उसमें परम प्रेमास्पद तो भी नहीं रहेगा दुख में सुख तो नहीं रहने से परम प्रेमास्पद तो भी नहीं रहेगा ये व्यतिरेकी अनुमान ये व्यतिरेक अनुमान देंगे ये व्यतिरेक है कि साध्या भाव को दिखा करके हेतु भाव को दिखाते हैं अन्वय अनुमान में किसे देखेंगे हेतु है इसलिए साध्य को रहना पड़ेगा व्यतिरिक अनुमान में कहेंगे साध्य नहीं है इसलिए हेतु नहीं रहेगा इसको कहते हैं व्यतिरिक व्यतिरिक अर्थात अभाव ये है तो वो होगा और वो नहीं है तो ये नहीं होगा नहीं है तो नहीं होगा ये अभाव हो गया इसलिए इसको का अनुमान कहा जाएगा हाँ, अच्छा का अनुमान आत्मन सुख तो सिद्धि जहाँ सुख तो नहीं रहेगा वहाँ पर प्रेमास्पद तो नहीं रहेगा तो इसे क्या हो गया जहाँ पर प्रेमास्पद तो रहेगा वहाँ सुख तो रहेगा ये अनुमान से सिद्ध होता है पर प्रेमास्पदतया प्रेमास्पदतया मानभूवमहं सदा मानभूवमहं सदा भूयासमितियो द्रष्टा भूयासमितियो द्रष्टा सोऽहमित्यवधारय सोऽहमित्यवधारय परप्रेमास्पदतया मानभूवमहं अच्छा, अच्छा, अच्छा, तो हो गया था ये आगे का श्लोक हम अच्छा तो ये हो गया कि आत्मा सुखरूप है वो चौबीस श्लोक में पूरा हुआ आगे पच्चीस श्लोक के लिए अनुभव अवश्य न हेतु न अश्य जो बात कहा गया कि आत्मा प्रियतम है पुत्र पिता आदि सब आत्मा का को होकर के प्रिय होते हैं हमको प्रिय वही लगता है जो हमारा उपकार करता है तो जिसमें कहते हैं वो हमारा उपकार करता है उस समय में हम अपने आप को क्या मानते हैं शुद्ध चैतन्य नहीं कुछ ना कुछ मानते हैं ये सब अर्थात ये मार्ग में चलने का अर्थ है कि इन सबको धीरे धीरे हटा हमारा कोई उपकार कर ही नहीं पाएगा ये बुद्धि होना पड़ेगा वो हमारा उपकार करता है तब हम शरीर है अथवा मन है अथवा बुद्धि है ये सबसे हटना पड़ेगा इसलिए हम लोग जो सब परंपरा है ये बहुत ज्यादा दूसरे से ये नहीं रहते हैं अर्थात जो उपकार साधु पुराने साल के बिल्कुल आप देखे थे संतोषान जी को देखे हैं तो वो पांच फुट एक इंच करीब ऊंचा होगा समझिए और उनका चौड़ाई भी इतना होगा पूर्व <laughs> दिशा देखेंगे तो उसका अंतिम दिन तक वो सेवा नहीं उनके सामने में लोग तो शास्त्री जी इत्यादि रहते थे शास्त्री जी का तो जानते थे वो लोग तैयार रहते थे उनके हम लोग कर लेंगे आपके लिए उनका था तब चौरानवे नौ चार उम्र और किससे सेवा लेंगे नहीं लेंगे तो ये जितना भी बोले कि कर पाते हैं ना तो अंतिम में उनका शरीर मतलब उन्हीं का कमरे तो में उनका शरीर चल गया तो किसी से नहीं मिले इस प्रकार तो वो यहाँ बहुत दिन से अर्थात महाराज जी वगैरह उनके सामने में मतलब वो जो कोठारी इत्यादि थे कार्य करते थे तो विष्णु तो महाराज जी वगैरह यहाँ विजय थे किंतु इतने निष्ठावान थे महाराज जी जो मानव चल बने तो फिर बना आपको जो मनुष्य है इसलिए जैसा हम लोग का ये सब अंतिम समय तक भी वो कहेंगे ना लेना नहीं है उपकार जो करेगा जिसको निश्चय है कि हमें शरीर मन से अलग है और शरीर मनोबुद्धि अब हमारे लिए आवश्यक नहीं है ये जगत का है और जगत उसका उपकार करता है जगत उसको बचाता है ये जगत का है ये हमारा नहीं है उसी को अधिकार है दूसरों का उपकार उसको वास्तविक अधिकार नहीं वहां तो सिद्धि करवा रहे हैं क्योंकि वो तो शरीर बचेगा तो शिव जी का काम में लगेगा उसको ये बुद्धि नहीं रहेगा कि ये मेरा उपकार कर रहा है क्यों जानता है ये शरीर कहाँ मेरा है ये मन बुद्धि कहाँ मेरा है वो तो जगत का है जगत उसका उपकार करता है जगत उसको काम में लगा जैसे कहते हैं गाड़ी में तेल डाला तो गाड़ी चलेगी नहीं डाला तो ना चले हमको क्या है उसमें इस प्रकार की उपकार लेने से हमेशा मतलब अगर कोई उपाय नहीं है तो अलग बात है नहीं तो जितना हो सके उसे दूर रखें शरीर बुद्धि दृढ़ रहता है मेरे को चाहिए ये बुद्धि होगा ये सबसे अर्थात सब सिखाया जाता है धीरे धीरे परम्परा सब नाश होता है ये सब धीरे धीरे कहता है कॉर्पोरेट तो स्टाइल आप नहीं समझेगा अर्थात तो धीरे धीरे संसारिक बुद्धि सब हो जाता है इस प्रकार के नहीं है साधु बुद्धि होना चाहिए शरीर में बहुत ज्यादा महत्व बुद्धि नहीं है ये ऐसा सब रखना है तो तभी जाकर ये घटता है नहीं तो हर चीज में शरीर को बचाना है बचाना है करेंगे ये ऐसे अच्छा नहीं शरीर का पवित्रता अपवित्रता को देखना है ये शरीर का स्वस्थता अस्वस्थता इसको बहुत ज्यादा मन को नहीं देना है मिल गया तो उसमें ठीक है नहीं है तो उसके लिए बहुत भागदौड़ नहीं करना है लेकिन पवित्रता अपवित्रता का को रखना है ये मन को छूटा है ये तो शरीर को थोड़ा स्वस्थ रखना नहीं रखना वो इतना महत्व उसमें नहीं रखना है अनुभव अवस्टम्भे न हेतुना अस्य स्पष्ट है कि आत्मा जो सबसे अधिक प्रिय है इसको अनुभव देकर के कहते हैं श्लोक हम लोग उच्चारण कर रहे हैं पर प्रेमास्पदया आत्मा पर प्रेमास्पद है और वो कौन है कहते मैं ही हूँ इसलिए माँ न भूवम भूवम कहाँ का रूप होगा ये लुंग का उत्तम पुरुष एक और आना चाहिए तो मैं न हो इसी प्रकार की कोई नहीं चाहता है न भुवम इति माँ मैं न हो इस प्रकार की कोई भी नहीं चाहता है फिर क्या चाहते हैं सदा भूयासम भूयासम कहाँ करो हम सदा भूयासम मैं सर्वदा होम मैं न हो ये कोई नहीं चाहेगा और मैं सर्वदा हूँ ये चाहेगा ये क्यों ऐसा चाहेगा बंदी चाहेगा कि मैं गर्म रहूं मैं प्रकाशमान रहूं ये बंदी ऐसा चाहता है ना उसका स्वभाव है स्वभाव ये हमारा वास्तव स्वभाव है क्यों कहते हम अविनाशी है हम ये शरीर इत्यादि के साथ मिल करके ये सब का विनाश होता है इसलिए हम सोच लेते कि अच्छा हमारा विनाश हो जा सकता है किंतु अंदर में वो जो प्रकाश जलता है वो तो कहता रहेगा हम मरने वाला नहीं है तो हम मरने वाला नहीं है उसका अंदर में निश्चय है अब अभी सट गया इनके साथ जो मरने वाला है इसलिए कहता है कि ये न मरे ये न मरे ये भी तो मरने वाला है ये तो मरेंगे हमारा जो स्वभाव है वो इसके साथ मिला हुआ है हमारा स्वभाव क्या है कि मैं कभी न हूँ ये नहीं हो मैं सर्वदा हूँ ये हमारा वास्तव स्वरूप है तो इस प्रकार की बुद्धि दृढ़ करने के लिए ये जो शरीर मन बुद्धि इत्यादि से तादात्म्य को छुटाना है हमारा हर कर्म अगर यही दृढ़ कराया गया कि शरीर को स्वस्थ रखना है इसको बचाना है इसको ये करना है इंद्रियों को पुष्ट करना है इंद्रियों से सब अच्छा से दिखना चाहिए ये सब विपरीत विचार है इस प्रकार से उनका घटना है शरीर में बहुत ज्यादा उसको महत्वपूर्ण नहीं रखना है हाँ, अर्थात वास्तव स्वरूप के तरफ धीरे धीरे चलना है मानव वम भूयासम ये अनुभव अवस्थ में अवस्थ का आश्रय अनुभवों का आश्रय करके ये बात कह जो दृष्टा स्व अहम जो दृष्टा है वही मैं हूँ इसी है मैं कभी न हूँ ये नहीं है और मैं सर्वदा रहूँ यही वास्तव की है अनुभवों को आधार करके ये कहना है सभी को अनुभव हो रहा है तो और यही विचार करना है शरीर मन बुद्धि तो नाश होंगे ही होंगे तो हम क्यों सोचता है कि ये सब ठीक रहे हमेशा ऐसा हम क्यों सोचता है इसलिए न सोचे तो फिर कुछ नहीं करेंगे कहेंगे हमको लक्ष्य के दिशा में चलने के लिए जितना चाहिए उतने को कर दीजिए उसे अधीन नहीं करना है अच्छा दिखेगा अच्छा लगेगा अच्छा ये होगा वो सब के लिए कोई महत्व भी नहीं रखना है स्वरूप के तरफ रखना है ये श्लोक उच्चारण करेंगे कैसे अच्छा हाँ इसका हमने सीधा जैसे पर प्रेमास्पद कया क्योंकि हेतु हो गया मैं पर प्रेमास्पद हूँ इसलिए मानव भूगम अहम सदा भूयासम इति युव दृष्टा सोहम जैसे है में मैं ही पर प्रेमास्पद हूँ ये शरीर बुद्धि ये सब नहीं है पर प्रेमास्पद नहीं है लोग उच्चारण कर लेंगे आगे ठीक है किम पुनरअन प्रबंधन तम पदार्थ स्वरूप निरूपित भवती की आशंका अनेन प्रबंधन इतना विचार करके तुम पदार्थ का स्वरूप आप निरूपण करते हैं शरीर मन बुद्धि इंद्रिय ये सबसे अलग करके आप अतिरिक्त को दिखा रहे हैं उसका है इतना परिश्रम करके आप तुम पदार्थ का स्वरूप निरूपण करते हैं उससे क्या होगा हम तो थोड़ा ऐसे बस वेदांत तो सुन ले उसी से हो जाएगा ये आप इतना परिश्रम करके न्याय लगा करके इससे अलग करके बार बार बता रहे इससे क्या होगा देखना हम तो ऑनलाइन सुनेंगे उसी से हो जाएगा <laughs> बाकी का तो जो करना है वो तो करते रहेंगे उससे क्या होगा तू पक्ष का ये सब प्रश्न है ये वास्तविक वेदांत ये जीवन है ये जीना पड़ता है मैं उस प्रकार की हूँ ये कोई थ्योरी नहीं है अर्थात ये कोई खाली पोथीगत तो विद्या नहीं है हम सब समझ जाते हैं हम सब मतलब जान लेते हैं हम सब समझ जाते हैं सब जान लेते हैं थोड़ा सा उनके साथ दबाएंगे तो अंदर से खाली पॉज निकलेगा फौज हिंदी में क्या कहते हैं फौज ही कहते हैं फौज कहते हैं तो वही निकलेगा अंदर में खून नहीं है उनका सब <laughs> कचरा ही भरा है थोड़ा कहेंगे भाई अब थोड़ा दिन में दो ही सूत्र रख करके थोड़ा लघु पढ़ो तो बहुत कष्ट करके कोई पंद्रह बीस दिन एक महीना तो पढ़ेंगे आप हमको क्या करवाते हैं क्या पढ़वाते हैं सर हम आया था वेदांत सुनने के लिए तो आप क्या पढ़ा रहे हैं इससे क्या होगा इसी प्रकार गुरु पक्षी का प्रश्न तो हम कहेंगे भाई वेदांत तो पढ़वाने से पहले ये कोर्स निकाल देना पड़ेगा ना ये कटोरा में भरा हुआ है कहना कैसे आपको पता चला हम खाली कहते हैं हम हाँ, अशुद्ध है यही बताते हैं आप शुद्ध है अशुद्ध है ये बताते हैं आप तीन महीना पढ़िए लघु आपका अगर भी पूरा हो जाए अथवा आपका अवसर निगम तो पूरा हो जाए तब आपको पता चल जाए आप कितना शुद्ध है कितना अशुद्ध है पता चल जाए नहीं तो महापुरुष लोग तो ये नहीं कहते कि लघु है ये क्या लोहे का अच्छा। जिसका दांत तो बच जाएगा वही वेदांत आगे पढ़ेगा और हाँ, जिसका धान गिर जाएगा उसे वो क्या करेगा तो ये सब अर्थात कितना कसौटी है ये हो गया तो आगे हाँ भाई अब चल पाएंगे नहीं तो कठिन है किसी को हम्म, बोल दिया कि आप इसे लागू पड़े इसे लागू पड़े और हम स्वयं कर दो फिर पड़ा आज हमको सूर्य देखे हैं कि लगता है कि और हम थोड़े दिन में पागल ही हो जाएंगे <laughs> ऐसा हमारे अंदर में विचार आता है ये विचार आता है इसको तो समझने का पता नहीं आप इतने साल से वेदांत सुन रहे हैं बोल रहे हैं एक दिन आपको पता चला कि ये आपके अंदर में था ये सब आसन नहीं पता चला और आप अभी डेढ़ महीना ये पढ़ना आरम्भ है तो अभी कह रहे हैं ये सब गंदे विचार कहाँ से आ रहे हैं अब आप सारे जीवन वेदांत सुनते रहेंगे इतना परत के ऊपर परत आप रंग देते रहेंगे अंतिम में कह भी सकते हैं दूसरों को बहुत ज्यादा सुन लेंगे तो यहाँ भरेगा नहीं भरेगा कम भी देंगे किंतु कहेंगे थोड़ा लघु पढ़ो दो महीना के बाद ये सब विचार कहा ये लघु पढ़ने से हम अपवित्र हो जाते हैं <laughs> अब कहेंगे लघु पढ़ने से आप शुद्ध होते हैं तो कहेंगे ना ये तो विचार आ रहा है फिर ये विचार जा रहा है उसको जाने दीजिए तो ये जाने के लिए कष्ट होता है इसलिए हम लोग इस प्रकार की नहीं ये जो परंपरा जो पवित्र परंपरा वो इस प्रकार की नहीं वो आपको शुद्ध करेंगे जो शुद्ध हो गया वो चलेगा जो नहीं हुआ होगा ये जो हमारा महाभारत में आता है ना स्वर्गारोहण ये क्या बताता है जो सभी गिर गए एक करके क्यों गिर गए यही सब दिखाया जाता है सभी लोग इसमें नहीं चल पाएंगे अशुद्धि है तो नहीं चल पाएंगे शुद्ध होना पड़ेगा ये सब जो पढ़ पाएगा के लिए उसका बुद्धि शुद्ध है वो चल पाएगा ये सब का परीक्षा है फिर तो महाराज जी कह देंगे आप अगर प्रभु नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर आप देखिए मेरे से अच्छा <laughs> प्रभु अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो यहाँ मेरे से अच्छा क्यों क्योंकि इस मार्ग को अपना नहीं पाएगा उसका सामर्थ्य नहीं है तो फिर यहाँ रह करके क्यों उसका जीवन व्यक्त करेगा तो जाए क्योंकि यहाँ रह करके जो पढ़ेगा नहीं वो धीरे धीरे कमर्स में चला जाएगा बहुत ज्यादा सेवा परायण है तो ठीक है नहीं है तो धीरे धीरे तमस में चला जाएगा उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा ना तो कौन महापुरुष जाएगा कि किसका जीवन बर्बाद हो जाएगा पर ही जाएगा भाई जहाँ आपको आठ घंटा काम मिलेगा तो आपको धीरे धीरे कम होगा होगा फिर आएंगे आपकी लिमिट नहीं कह देंगे आप यहाँ रहो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा तो ये सब मार्ग है पूर्व पक्ष पूछता है कि तुम पदार्थ का स्वरूप निरूपण आप करते हैं उससे क्या होगा यदि आसन के सिद्धांत कहता है कि परिशोधितम तोम पदार्थ संक्षिपति तोम पदार्थ शोधन इसका भी संक्षेप करके कहते हैं ये चाहिए ये सीढ़ी है यह साक्षी लक्षण बोधस्म पदार्थ स उच्यते साक्षित्वमपि यह साक्षी लक्षण पदार्थ पूछते साक्षित्व अभी अंतिम है आत्मन उसका पूर्व में अभिकारितया यह साक्षी लक्षण बोधस जो साक्षी रूप बोध है सत्म पदार्थ उचित जो साक्षी रूप बोध है उसी को तुम पदार्थ ये कहा जाएगा साक्षी रूप अर्थात हम ये मनोबुद्धि को जानते हैं अगर मनोबुद्धि में बहुत ज्यादा मालिन्य मल रहेगा हम उसको जान नहीं पाएंगे हम उसके साथ सट जाएंगे तो इसलिए इसका सफाई करना बहुत जरूरी है अगर सफाई नहीं होगा आप जितने साल भी ये करें हो सकता है कि कोई एक दो सेकंड आपको लगेगा कि मैं मनोबुद्धि का साक्षी हूँ किंतु तो नहीं कर पाएगा क्योंकि मन का अर्थ है कि वासना करने का पाने का करने का पाने का अगर होगा मन बुद्धि के साथ सटेगा ना उसे दूर हटेगा तो इसलिए ये जो करने का पाने का ये बुद्धि को सब छोड़ना इसको करते ये अगर नहीं है ये वेदांत तो कोई काम का नहीं है खाली वेदना जो कलुषित परफेक्ट हो जाएगा वो कोई काम का नहीं है वैराग्य है तो भी ये ठीक है नहीं है तो खाली चर्चा का विषय तो इसमें इसलिए अर्थात शुद्धि के ऊपर अधिक महत्व रखेंगे हमेशा साधन चतुष्ट के ऊपर अधिक महत्व इतना जो कुठारन कुठार का तीसरीकरण के ऊपर अधिक महत्व वृक्ष तो कोई दो चार टूट में बढ़ जाएगा तीसरीकरण के ऊपर अधिक महत्व इसलिए सारे शास्त्र वही आएंगे बार बार कहेंगे दृढ़ करना है सर्वत्र कर्तव्य बुद्धि से करना है मेरा बुद्धि से नहीं करना है इस प्रकार करेगा तभी जाकर के हम ये सब पदार्थों का साक्षी बन पाएंगे मनोबुद्धि इत्यादि का साक्षी बनेंगे यह साक्षी लक्षण बोध सत्वम पदार्थ उच्चते रुचि को ही तुम पदार्थ का कहा साक्षी तुम अपनी तभी साक्षी हो गया जो तुम पदार्थ जो साक्षी होगा उसमें क्या धर्म आएगा साक्षी तुम लोक में कोई कुछ घटना का साक्षी हुआ तो उसका अंदर में कुछ संस्कार बना बनता है ये संस्कार बनने से ये संस्कार कुछ एक लाइन और खींचा ये उसका विकार हुआ तो लोक में देखा गया जो साक्षी होता है उसमें कुछ ना कुछ विकार होता है अगर आप आत्मा को साक्षी कर दिए तो उसमें भी अभी क्या होगा विकार होगा कहते हैं साक्षी तुम अभी आत्मा न साक्षित्व आत्मन ष्टी हटाने से आत्मा साक्षी साक्षी कैसे होगा कहते हैं अविकारी जो रोगी का साक्षी होते हैं वो विकारी होते हैं अविकारी होते हैं विकारी आत्मा जो साक्षी हुआ वो अविकारी होकर के आत्मा साक्षी अविकारी कया बोधित्व आत्मन बोधित्व लौकिक साक्षी में भी बोधित्व रहता है वो भी जाना आत्मा में भी बोधित्व रहा किंतु लौकिक साक्षी में विकारी विकारितया अविकारितया विकारी किंतु आत्मा में जो साक्षित्व तो रहा सूर्य जितना हम इस प्रकार की हो पाएंगे इसलिए लौकिक उदाहरण देते हैं एक होता है कैमरा और एक होता है दर्पण कैमरा के सामने जो आएगा वो क्या करेगा उसका फोटो ले लेगा दर्पण के सामने कुछ नहीं तो कैमरा के सामने जो आप आएंगे कैमरा आपको दिखा देगा ना कैमरा आपको पकड़ करके अंदर में रखेगा पकड़ पकड़ करके रखेगा दर्पण की तो आपको पकड़ करके अंदर में रखेगा ना आपको दिखा देगा यही होना सामने में जो आया उसी को दिखा दीजिए आप हाँ भाई ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं खराब लगेगा तो दोबारा नहीं आएगा ये सब छुटकारा मानने का हुआ है जिसको किंतु बोध होगा कि अरे भाई ये तो हम ही कोई हमारा वास्तव रूप को दिखाया वो फिर दोबारा आएगा नहीं आएगा उसी का ये गति हो सकती है ये सब छुटकारा पाने का संसार से उपाय है जो सब साधु का ये सब मतलब ये सब उपाय है इसे संसार से बचेंगे कैसे लोग तो आपको डस्टबिन में डालेंगे कूड़ादान में डालेंगे जो आएगा उसी को ऐसे करके देंगे आप ये करना है ये करना है ये शुद्ध करना है ये शुद्ध करना है ये शुद्ध करना है शुद्ध होगा तो दो बार आएगा नहीं तो आपको भी छुटकारा है दर्पण होना है वो चला गया तो चला गया हमको कोई मतलब नहीं उसे और सामने आए तो उसी को देखा जाएगा दोबारा नहीं आएगा जब तक हमको है कि नहीं हमको तो चाहिए हमको तो चाहिए लोग अगर चाहिए सदाम संगो ही है सतम ऐसे कहते हैं संग सर्वात्मना त्याज्य ध्येय सचेत धातु न सकते संग सर्व रूप से त्याज्य है किसी के साथ संग नहीं करना है सचेत धातु न सत्य अगर संग छोड़ ही नहीं पाता है देखें तो सभी सह कर्तव्य सत्पुरुषों के साथ संग करना है क्यों सताम संगो ही भेषज सत्पुरुषों का संग करना ये भेषज भेषज अगर संग के बिना हम नहीं रह पाते हैं तो सत्पुरुषों के साथ संग करना है नहीं तो अगर हम दूसरों के साथ संग कर लेते हैं तो फिर ये हमारी दुर्गति है इसलिए कहा जाता है कि या तो हम ऊंचे व्यक्ति के साथ संग करें नहीं तो कम से कम बराबरी में सकती जिसका स्थिति हमसे कम है उसके साथ हम अपने पार्श्व से संलग्न करें वो अगर जिज्ञासा से लेकर के आते हैं ये कर्तव्य है तो बताना है अगर नहीं बताएगा तो फिर इसको कहते हैं ज्ञान खलो नहीं करना है जिज्ञासा से लेकर के आया तो बता देना है नहीं तो अपने से ऊंचे व्यक्ति के साथ चलना है कम से कम बराबर में चलना है नहीं तो क्या होगा जो आप, आपसे नीचे है वो आएगा आप उसके साथ संग करेंगे तो आपका उसका कचरा डालेगा हम इसलिए जो संभव कर रहे वो सतर्क करना है नहीं करना है जो लोग बहुत ज्यादा P M PC P M PC हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं पर निंदा पर चर्चा इस कुटुंबाश्रम में शब्द व्यवहार करते थे इसे बहुत ज्यादा करने वाले से थोड़ा दूर रहना है बहुत ज्यादा नहीं करना है जो कहना है कह दिया सामने नहीं कह दिया अच्छा बता अच्छा बता नहीं बता कोई कहे भाई आप भी कहे खराब करना ठीक है नहीं तो ये सबसे दूर रहना है वो सब चित्त ये कलुषित हो जाता है वो सब विकार लाता है अपने से ऊंचे व्यक्ति के साथ मिलना है नहीं तो बराबरी में मिलना है संग अगर करना है तो देखते हैं सकाम संग ही भेज सकम सताम सत्पुरुषों के साथ संघ करेंगे ही भेज सकते तो आत्मा में जो बोधे तो आया ये अविकारित गया हमको दर्पण जैसा होना है व्यक्ति सामने में आया इसलिए छोटे तो हमारे सिर वगैरह के बाद में आता है सामने में कोई आया इतना पीड़ित है रोने लगा ये भी रोने लगे उसके साथ तो वो चला गया फिर कोई दूसरा व्यक्ति आ गया तो फिर कुछ आनंद का बात होने लगा फिर हंसने लगे और भूल मतलब यहाँ रहा नहीं कि कोई व्यक्ति पहले आया था कोई हो सकता है कि आंखों से जो आंसू गिरा था उसका चिन्ह भी होगा तो किंतु अभी जैसे बालक होता है ना इसी प्रकार के दर्पण जैसा बनाना बहुत ज्यादा अंदर हो सकता नहीं ब्रह्म है इसलिए फिल्टर करना सीखना पड़ता है साधु जो होंगे फिल्टर करना सीखे कोई आया तो पहले तो थोड़ा आग लगा रहा है चला गया तो दरवाजे से दे तो <laughs> अंदर आया तो और थोड़ा जला देंगे श्रद्धा होगा तो दोबारा आ जाएगा नहीं है बढ़िया बात है इस प्रकार बहुत ज्यादा आगे ठीक है साक्षित्व साक्षी अविषय अविषय ईक्षण कर्तृत्व विकारी पक्षा पूर्व पक्षी कहता है अगर आत्मा साक्षी होगा साक्षी साक्ष्य विषय ईक्षण कर्तृत्व जो साक्षी होगा वो साक्ष्य का दर्शन करेगा साक्ष्य अर्थात जो दृश्यमान पदार्थ जो साक्षी होगा साक्ष्य को देखेगा साक्ष्य विषय का ईक्षण ईक्षण दर्शन देखेगा तो उसका कर्ता बनेगा कर्ता बनने से विकारी होगा पूर्व हम्म। पक्ष तो कहता है कि आत्मा तो विकारी हो जाएगा सिद्धांत कहता है कि साक्षित्व अविकारी बोधित्व टीका में अविकारितया बोधित्व हम्म। नाम बोधेक रसत्व अविकारितया बोधित्व इसका क्या अर्थ है कहते हैं बोध एक रस बोध रूप ही है तो ज्ञान रूप ही है वो उसमें कुछ और विकार नहीं आ पाएगा जैसे कहते हैं अग्नि रूप ही है उसमें आप कुछ विकार नहीं डाल पाएंगे संभव ही नहीं है अविकारित इसलिए व्यवहार में हम जितना अविकार रहते हैं वही जानेंगे कि हमारा स्थिति अच्छा हुआ व्यवहार में जाने से विकार हो जाता है कहते हैं उसके लिए हमको और अधिक वेदांत का विचार करना है नहीं तो उस प्रकार के व्यवहार अगर हमारा सामर्थ्य में है कि हम उसे दूर हो सकते हैं तो हो जाना चाहिए अच्छा कभी तो अगर मजबूरी है कि हम उस प्रकार व्यवहार से हट नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमको ये चाहिए इसके लिए ये व्यवहार में जाना होगा तो, तो करना पड़ेगा हमको ऊंचा चीज चाहिए थी तो, तो करना पड़ेगा तो ऐसे स्थान पर अर्थात हमको जानना पड़ेगा कि इतना प्रारंभ है थोड़ा शिव जी के सामने रो करके पार करना पड़ेगा उसे रस नहीं लाना व्यवहार से कभी रस नहीं लेने का है बढ़िया भाव नहीं करने का अविकारिकया बोधित्व नाम बोधे का रसत्व विद्या अनुरूप है तदीय सन्निधि सत्ता मात्रेण साक्षी है बोधित्वम उपचरित तदीय सन्निधि सत्ता तदीय आत्मन आत्म विषय का सन्निधि सन्निधि का सत्ता पास में केवल रहना यही साक्षी प्रतीत है बोधित्वम आत्मा आत्मा में बोधरी तो कैसा आएगा कितना साक्षी बन गया साक्षी बनने का क्या अर्थ है तदीय सन्निधि सत्ता मात्र उसका पास में रहना इतना ही आत्मा का बोध है सूर्य सभी को जान रहा है इसी प्रकार सभी को जानेंगे सभी को जानेंगे अर्थात तो कहते हैं हम पीछे एक परिवेश में रहते हैं सभी को जानेंगे थोड़ा तो बहुत पता चल जाएगा किंतु उसको लेकर के विचार अंदर में रहना है अगर कभी मन में विचार आता है तो व्यक्ति से हटा करके गुणों में डालना है हम कहते थे सामान्यतः व्यक्ति ऐसा है नहीं नहीं ये उसमें रजगुण है ये रजोगुण का ही कार्य है ये व्यक्ति बहुत अच्छा है नहीं ये सत्वगुण तो का कार्य है तो सात्विक गुण का ये हुआ रजोगुण का ये हुआ ये तमो गुण का ये हुआ हमेशा ये गुण में ये चीज डालते हैं तो हम धीरे धीरे व्यक्ति से हट जाएंगे व्यक्ति को देखना है सबसे नीचा वाला काम है गुण को देखना थोड़ा ऊंचा है धीरे धीरे बुद्धि बुद्धि ये बदलाएगी तदीय सन्निधि सत्ता मात्र साक्षी प्रतीत है बोधित्व उपचरितम उपचरित अर्थात गौण प्रयोग आत्मा में जो बोधित हो ये गौण प्रयोग मुख्य नहीं है केवल सन्निधि होना बस यही उसका साक्षी इसी प्रकार की जितना कार्य सन्निधि हो जाना बस यही ठीक है विकार नहीं होना ये श्लोक उच्चारण करेंगे साक्षी लक्षण साक्षी संक्षेप विस्तराभ्याम उत्तम उपसंहरती पदार्थ का उपसंहार कर दिया गया अभी संक्षेप से इसको अभी उसका एक बार फिर कहते हैं अर्थात हमको ये कहना है फिर आगे कह दिया अंतिम में कहते हैं हमने ये कह दिया इस प्रकार की संक्षेप विस्तार करके फिर बताते हैं देहेन्द्रिय मन प्राण देहेन्द्रिय मन प्राण कृतिभ्यो विलक्षण शेष षड्भाव पूज्यता शेष षड्भाव विकारस्त्वं पदाभिधः विकारस्त्वं पदाभिधः प्राण अङ्कृतिभ्यो विलक्षण रौज्यकाशेषषड्भाव देहेन्द्रिय मन प्राण अहंकृति विलक्षण क्रोधित अशेष सद्भाव विकार देह इंद्रिय मन प्राण अहंकृति क्रियांतिक करने से अहंकृति घय करने से अहंकार समान इसी से विलक्षणम विलक्षण अर्थात विरुद्धम लक्षण ये सब का जो लक्षण है ये सब दुख रूप है ये सब जड़ है ये सब परिचिन्न है उससे विपरीत है आत्मा ये क्या है कहते हैं चित्त रूप है ये सुख रूप है ये अपरिचिन्न है ये सत है ये सब विलक्षण विरुद्धम लक्षण कैसे और रोजित अशेष छठ भाव विकार छह भाव विकार होते हैं जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति तो ये छह भाव भाव पदार्थ में छह विकार होते हैं पहले जायते भाव पदार्थ का जन्म होगा जायते के बाद फिर अस्थि कभी तो है खाली ऐसे रहेगा ना धीरे धीरे विपरिणाम उसका अंदर में होता रहेगा योग सूत्र में कहते हैं कोई बोरी में धान बांध करके रख दिए पचास साल के बाद उसको ऐसा करेंगे वो धान रहेगा ना सब आटा हो जाएगा ऐसे भाई हम तो कुछ नहीं किया था कभी गोली ने बांध करके रख दिए थे इसको कहते हैं विपरिणाम वो स्वतः होगा भाव पदार्थ का विपरिणाम स्वतः होगा तो विपरिणाम जाएगा अस्थि है बढ़ेगा इसलिए सब ये बढ़ता है कोई भी भाव पदार्थ होगा बढ़ेगा आगे विपरिणाम होता है विपरिणाम होगा तो विपरिणाम होने के बाद फिर इस स्मृति का भी होगा स्मृति स्मृति का भी ऐसे ही हाल होगा स्मृति का स्मृति का हाँ। भाव पदार्थ सभी में ऐसा है किंतु तो यहाँ थोड़ा जो वर्धते कहने से हम जो जड़ चेतन कहेंगे पत्थर कहाँ बढ़ता है इस प्रकार में पत्थर एक जगह पड़ा रहेगा तो टाई जमेगा इसे पड़ेगा इस प्रकार में स्मृति भी ठीक इस प्रकार की है वो भी बढ़ेगा बढ़ करके जैसे कहते हैं बालों को जितना स्मरण रहेगा पांच सात साल हो जाएगा अधिक स्मरण रहेगा पंद्रह साल हो जाएगा ज्यादा स्मरण रहेगा और वही जब साठ साल हो जाएगा अतः स्मृति ज्ञान से भगवान तो फिर धीरे धीरे अपक्षय होगा उसका विस्मरण होगा तो फिर आगे भी नसीब ये जो छह भाव विकार हो गए ये सभी भाव पदार्थ में रहेंगे और किंतु कहते हैं प्रोजित अशेष प्रोजित त्यक्त तो सारे भाव विकार जिससे त्यक्त नहीं है जिसमें तो सो तोम पद विधव ओग्री है तोम पदम अभिधा यश अभिधा वाचक तोम पद ही जिसका वाचक है तो वो कौन है कहते कोई भाव विकार हम में नहीं है इस प्रकार के कहते कि ये ऐसा होता है कहते मन ऐसा होता है कि मन को होने दीजिए आप मत हो जाएंगे फिर मन तो मेरे को रहने नहीं देता है लेकिन भगाता है कहते हैं कि ठीक है वो अगर भगाता है तो उसको बैठ बैठ करके देखते रहिए किंतु एक क्षण में हम सट जाते हैं ये होगा इसमें कोई सटपट नहीं है भोगना पड़ेगा उनको भोगना पड़ेगा झेलना पड़ेगा घिसना पड़ेगा किंतु पकड़ करके जो रहेगा वो एक दिन वो स्रोत का प्रवाह घट जाएगा नहीं घट जाएगा किंतु जो स्रोत में बह जाएगा वो गंगा सागर पहुंच जाएगा तो जो कोई भी मिला कुछ रस्सी मिला पत्थर मिला किसी को भी पकड़ करके रहेगा एक दिन गंगा जी का बाढ़ चले जाएगा बच जाएगा तो इसलिए अर्थात हमेशा ये बोध रखना है कि हम तो ये सब भाव विकार से और अभय भाव विकार से सजम करना अस्थि है या तो। का कारण नहीं नहीं जहाँ अस्थि कहते हैं पहले अस्थि जायते इस प्रकार की आते हैं तो इसका अर्थ है कि जन्म से पहले भी वो पदार्थ तो था इस प्रकार की करते तो हैं ये दोनों प्रकार की पाठ मिल जाता है तुम पदम अभिधा अभिधा करते पाचकम तो बहुबरी है तुम पदम अभिधा वाचकम यदि तो तुम पद से उसको कहा जाता है प्रोजिता जो है प्रोजिता है प्रोजित अशेष सर्वाभ विकार बहुबरी है प्रोजित अशेष सर्वभाव विकारो यस्मात प्रोजित निर्गत वही भोग किससे कहेंगे आत्मा का जो तो लक्ष्यार्थ होगा तोम पद अभिधा तुम पद उसका वास्तव वास्तविक तो यहाँ तो वो कहते हैं तो इसमें वो संधि हुआ है क्या जो क्रोजित है कालो में सुना गया उधर विसर्ग धातु है एक तो निष्ठा प्रत्यय हुआ जैसे कहते हैं ना प्रगत वो कालो ध्रस्व दीर्घ जैसा नहीं हुआ तो देहेन्द्रिय व्यतिरिक्त निर्विकार चित वस्तु देहेन्द्रिय से व्यतिरिक्त है निर्विकार है चित वस्तु है तुम पद अभिधा यश बहुहृदय तुम पद उसका अभिधा है विपत्तिया तुम पदार्थ पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते